लेकिन हमने कई उम्मतों को पैदा फरमाया फिर उन पर तवील मुद्दत गुजर गई और ना आप अहले मदियन में मुकीम थे कि आप सल्लल्लाहु उन पर हमारी आयतें पढ़कर सुनाते हों बल्कि हम ही रसूल भेजने वाले हैं